वारे वापोल जे घोड़ा तो असां जोनारो रे तूर गिरो তারে রে আগে যে বাগে রে সুর বুড়ো রে আগে বাগে রে সুর ये खारी नंदी के

다 करके उसमें പ്രാണോത്സരതാർത്ഥേക്ക് പോലും ഇതിന്റെ പണിയാ आज आपने नोटू मदल खोजे जो सेंडी फोर्स में जो गुरु सूर्य मिलो और देख कणा खां को एक सूर की रांगलो है उने नोटू मदल फोर्स को सूर ने न्यालो फटा आर एक आदि टाल के और खाली तकरार जार सूर ने मार दी हीरा ई सुहाई भी कोई मैंने वीर जमीन पे नहीं बीते नीम दे पड़िया जो तू सु जावे मिलवाने वास्ते तो वीरा जी धीरा धीरा जो बात तू उसू कर दी या आखिरी सुनता नींद जीर्ण पर्यादे बोले दादा भाई हेम रहा तो वीर जो दो जो आपने आखी खोजा तो देख ली सूरा जी और इन्हें जान सूर मार लियो दादा भाई होगी ये दुखी बात कहाँ को सरदार से यू इन्हें जरूर पूछनी चाहिए तो राणो जी बैठ हस्ती पे और नेवाजी के सामने जी चले गए थे सत्र घोड़ा की खोज नींद पड़िया नींद भी धार में लागी थे तो राणो जी समझा तो जावे चल गए नींद थारो जो स्वभाव कुछ कर लो थे तो दिना दिना बात कर दे उठो नहीं तो सरदार बदल लियो थे वो सरदार बदली हो सरदार बस को नहीं होगी एक नींदा पड़ी आप बगल कटारा बांगड़ा तारा हनी बंदरी पाग राम देरा का सेदड़ा ये विदाजी उगला रे हाथ में लाग गया स्वामन की शान क्योंकि धीरा धीरा शांति रूसू बात कर दी नहीं तो कहना कहा को सरदार से सूर ने मार दे तो मार दे पर उसने उल्ट मार दे वो या आखिरी बात सुनताई नींद पढ़िया हाँ जो शांति रूसू बात करवा के वास्ते रही तो चोर तुलसी बेटा पकड़ाउट हुए बाग में छूटा था तुलजा तो जी वे भी चूकता भी जाग उठा और नीम दे के तो और नेवाजी के बातचीत हुई तो नीम दे पड़ियार देख बोला कि को रात कहाँ का तो और कहाँ जा रहा तो कहाँ नहीं जा रहा तो कौन छोड़ कौन नहीं तो सच्ची बात बताओ तो नीम दे पड़ियार देख बोला कि देखो जाओ कहाँ का सरदार तो कोई भाटी जैसलमेर का तो कोई पीले तो कमार तो कोई बूंदी हडा राव तो ये मरदा कहाँ का सरदार तो के भाटी जैसलमेर का के पीलो तो कमार तो के रूम सूम का बादशाह कह कोई दिल्ली का पठान तो के मीणा तो कोई दादा रूम का यह बात जो हिंद ने परिहार ने सुनाई ने वो सरदार कह बोलो हे नीम ने परिहार नहीं तो भाटी जैसा कोई नहर का था न पीलो तो कमार भीलवाड़ी का भीड़ भी कोई न जा रोम सुम का बादशाह कोई नहीं दिल्ली का पठान कोई नहीं बूंदी का हड्डा कोई नहीं दस तो इस बेटा बगड़ाओ था गुजर की जात तो इसी बगड़ाओ थी बेटा बाजा था राजा भाग जी का देख दो तो, राजा भाग जी का तो बेटा बाजा था और तो इसी बेटा बगड़ाओ था को गुजरा को मको बूंद से इन्हें और भोजी भोजी का पेट लगा विदेशों में गुजर बाजा सर को रहा यह अपनी बात श्रोताएं राणा जी और नीम दे पड़ी हाथ और नेवाब का उन्होंने जो भूरो सूर मार के और खारी के कराड़े पकड़ पटक न्यू सरदार देख बोले को देखो मरदाओ चालो बाघ में क्यों इस बेटा पकड़ा हो तुम्हारा खेल जाते क्योंकि बाघ में चालो तो कहे रामो जी और नीम दे पड़िया ने सरदार और कहीं देखा बाघ में जावे Kaikki dia tak berhau tu hei. Hai. Kahit dia kaya tu. Bahaya ditaruh. मारो रे बुरो रे सूर ये पहला तुमने वाली ने मारो रे यादे ये उतारी राणा जी ने पहाड़ माता सूर उतारी राणा उतारी राणा जी खे माथा पे तूंवाजी यादि ராதே ராதே पगड़ी पलटा यार धनी मार पगड़ी को पलटा यार की बन जा रे धर्म का ये बन गया धर्म का वहां ने वहां बनी धर्म को खाए हरि जो दारे पल पंको करे ये याद सनु रे शियली देवता परता ये तारा तो बारणी पानी कोई साके तारा तो बरणी पानी ಸೋನೆ ಗಾನಾರೆ ಹೇಳಿ ರಾಣ ನಿಂದೆ ದಿನದೆ ತೋಯಿ ಸಾನಿಯಾದ राखी तो दिनी बांध सानी की अब राखी तो दिनी ये बन जा धर्म राम भाई लावे बन जा धर्म Thank you, घुमा ते रे फूली गोत्र बाजे रे हर मतवाला जी आहार माने पूजा पसारे राम भोजो मलया थे पूजाए पर कारण को राव जी जब नेवाब सरदार ने सूर्य सूर खारी के करार मार लियो ने रण को राव जी नीम दे परियार सो राणा जी का भाई सुखत के सरदार अच्छो सरदार जी आपने कोई खतने के दान हुए या आपने नो तुम्हारा फोसू भूरो सूर ने भेजो अरे एक लाख नेवाजी ने भूरो सूर फटार फटार फौज में सो और खारी के दावे मार लिए तो हीरा जी नेवाजी ने ये मन हाथ तो नेवाजी के पास में जो रण को राव जी पहुंच गए रण को राव जी जाके और दरी की मलमल की भाग उतार और नीम दे राज के नेवाजी का धबा लागे और तो अटी भी दरी की भाग है नेवाजी ने उतार ली तो राणा जी की पहाग तो नेवाजी पे मेल दी थे और नेवाजी की पहाग जो राणा जी पे मेल दी धर्म भाई लग गया और सुनना का नारा जो हाथ में दे दिया चांदी की राशि बहन लेके तो चोश बेटा बघराओ थे तो ये भाई दीपणों करवा तो राण में आया था तो बाद में चीना तय वो छोटे मिलाप खोजो तो प्रेम सो घोर भोज और नियो सलार बात ढाल गाल जो दो भाई प्रेम सो मर जाते और अति राणा जी भी प्रेम सो मर जाते राणा जी देख बोला के देखो हो जब आपने धर्म भाई रोक जो तो पहली तो आपकी गया जो मारा सोना ही राणा जी का मार मावे थी तो अपना हाथ में पांच लड़े था बगड़ाव देख जाकर राणा जी ई वजह सुनी जो मैं आपके वास्ते भाई लाभणबा के वास्ते आया था आपने भाई विचारो आ जाओगे तो आपने रान का माल में क्यों उतर सामने नोट तो मालूम जाया जी गर्भो ई वजह से राणा जी आपसे भाई लावण बाबी आया तो भी वो मामलो जी आप लोगों को है दो ही प्रेम तू राणा जी और फौजी प्रेम तू भाई पगड़ी पलटा यार दोस्त हो जाए राणा जी देख बोला कि देखो तू बेटा पकड़ा होता हूँ मारे जो कोई फौज में काम पड़े तो इसी ही पकड़ा होता है कोई रात सकाम को काम पड़े तो और जो आपके जो कास्ट हुए तो नोट तो मालूम फौजी आपकी लार में राणा जी कर देगा दुनिया के खूब इसी तरह प्रेम तू फैली चारों पर ये राणो जी देख बोलो देखो आपका तीन गुना माफ थे नौ लाख गया से आपनी या अपना चुगता राणा जी का राण में करवा दी वो भी भेड़े की गया माल पर कोई भी खाना आ रही है कि वो नहीं बगड़ाता हूँ गया ने सफाई तो इस बेटा बगड़ाओ खुशी हो गया तो टोटी राणा जी भी खुशी हो गया राणो जी देख बोले चलो आज की मजवान गढ़ राण में जीवनी चाहिए तो तो इस बेटा बगड़ाओ तो घोड़ा पर सवार होकर Hi, Rama. Dallas. दिमागा ये याद पवड़ीर भरे के यदा नाचती दारी झबवड़ी ये बाज रही गुरी ताल गोरी भारी बाज मार जय ना जबवाणी राम गोी न गाता सूत दे चूना दे दे राम तेरे आदि मगर तमाशा है नाम देखे त्रिखानो हो राणा जी त्रिखानो तो राणा जी और बगराव से आज के इंदिरा बाग में से प्राण में जगत प्राण जेल को लगा आज की बजवानी भैला गडराण में जो जीवनी चाहिए चौड़ीस बेटा घुड़ा पर सवार होकर दे बगल ढाल तलवार ताना भनी बांधी पाग राम प्रिया का खेल रहा हे मना तो घोड़ा पर देख मैंने घटा में घोड़ा के ताग ना मारा ने तो घोड़ा जी तो उस बेटा पकड़ा होने का राण मनाता जा रहा थी उर्दी का बधार में घोड़ा नाचे थे पौड़ी घोड़ी नाचे थे हवाई तो राजा बोल थी तो बता मोरा को छाल रुकाता सूत्र पोकर घोड़े की कड़ा के बांध मिली थी तो क्यों रान का बाजार में घोड़ी नाचे है मदान क्योंकि मोरा का छादरा और मोती जो बाजार में टूट टूट पड़ेगी मोती और हीरा मोती मोरा बाजार में धोड़ा में रमती जारी थी तो वरना गरीब गुरबा कंगला जो चुप चुप लाके तो घोड़ घोड़ की जेब होता जाओ आज की रान तमाशा देखे के धनुना क्यों इस बेटा पकड़ा होते एक ही नकल का एक ही शकल का और एक ही पारा ಏಕಿ ಪಾರ ತೇರಾಕ್ಯಾಂಕು ಬಾಗಾಕ್ ಸುಮಲ್ ಕೇಸಿಯಾ ಹೇಮ राजा का सूतम लाल गुलाल सुना का होगा लाग गया तारा भाई मंदिर के पास तो आज की राम इसी उसमें का हो रहा था समझा देव भगवान चला गया राणा का दरबार में जाके जो तो इस बेटा होता के चक्री की जाके विराजमान हो थे पासा की दाम का पड़वा ला गया खेल लिया तो फिर वो खेल तो राणा जी के प्रेम से जो मधुबनिया भाई लग गया जी मधुवानी भीम के राणा जी को क्या मांग रही राणा जी अब अज्ञा दो कोर्ट में जरूर भी जाऊंगा राणा जी ने अज्ञा दे दी थी तो घोड़ा खड़गार और फाटा का फाटा गोट में विराजमान तो बेटा बगड़ाता हो जाओ और राणा जी के और बगड़ाव तक यहाँ तो भाई विचारो हो जो थे राणा जी और बगड़ाव से कोई बात की दूर नहीं समझे तो कह देगा तो इस बेटा बगड़ाव से गोट में विराजमान हो जाते तो कह देगा घोड़ा खनगार के और कहीं का काम भोजी मेवाजी के कर बाला बदनोर यबके माया ने महान मारना तो माया ने ये बारा परस की रहा में माया है काया रे घर की

आजो त शेर बट घोर मार त पियाजो शेर बटर हा तनु तां पर के महान मार डाकूरे पेर तो इस बेटा पकड़ाओ घोड़ा पर सवार होकर और देख बोला कि देखो मरदाओ माया देवी भोलानाथ ने बारावती मायर बारावती गया तो खूब खा लो खूब घुमा लो और फट भी सब मरा अपन नाव कर चला हीरा जी आज तो तो घोड़ा श्रृंगार कोई तो टीका देश में सेल करवा चल जावे कोई टीका देश में चल जावे आप हम सब दुनिया भर की सेल कर ली तो आज आप हम बदनौर का शेर में चला देगा बदनौर का शेर को जबरू नाव सुन मिले तो आप सेल करवा दो तो घोड़ा गिर के और बदनौर का शेर में जो रमन्ना भैया जी बगल कटारा बांगड़ा तारा भरी बांधी पास तो नोरंगा नसान उड़ता जावे घोड़ा की खुड़ताल भागी जावे तो घोड़ा भय डाना था तो घोड़ा का बढ़ा की मारी जब धूल उठ गए तो चांद सूर्य के भी गुड़ छाती ले जाओ जार तन उड़ता प्रभात जो बधो शेर में जाके तुलसी जी का पूछ तो वो बधो शेर में काली कंकाली को मुका एक मंदिर तो भवानी अरे वो भवानी की सेवा एक मालिक पूरी करेगी तो बारह वर्ष की लड़की विवाह तो उन्हें सेवा करता करना बारह वर्ष हो गया तो बारह वर्ष की लड़की अकल कमारी हो जाती वह रोजीना ये स्नान ध्यान करके और रोजीना फजर बारी तो उठ और फूला की माला गुथ और माई जी के रोजीना की रोजीना गला में डाले तो काली कंकाली कहानी तो अची सू तो ये बगड़ावता का घोड़ा जाबो हो और अची सुहा तनुता पर जो माली की छोड़ी आ रही थी फूला की डाली भी रूम में माला बहानी थी पड़ी हुई तो તો ನೀವು ಸರ್ದಾರ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಲ ಈ ಮಾಳಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡಿದು या माला जो महादेव भंवर भोज के ग्राम में फेरा दे दू तो इथारा बनो शेर में यूं जाने जाकर को खान की शान बरात आ रही मगर भोजी बहुत सुहावना लगे मालन देव भोजी ने सुनी जाता या माला आपके काम की कोई नहीं या माला तो कहानी का नाम है उनके रोजी रोजीना माला में गाँव में पड़कू जरूर सेवा करूँगे और थाने दोबारा आप की बाड़ी में और सूर्य ही बहन के माला है ದಾವೆ ಮಗನಾವ ತಮರ್ದಾ सरदार ಸರ್ದಾರ್ ಅರ್ಬಿಲು ಸರ್ದಾರ್ तो ईरान या कहीं बात की फिर आज तुम्हारा यही फिर तो नेवा सरदार ने भाला की रीत तो उठा और वहाँ माला जमन के घूम कर जवाब बदल दी और वह डाली थी उन्हें घोड़ा को तोमरो खोल और हीरा मोतिया को भी तोमरो घोड़ा को दरांडिया ने खूब खजे माया और उड़ाई में का बस बात कहीं चाले क्योंकि तो जोरदार बगड़ा था जबरन तो माला फेर दी माला में दोबारा दार बाड़ी में माला गूंथ और फिर स्नान ध्यान करी और मंदिर में भवानी के मंदिर में डाली और कहते तो ही मारी की लड़की को सुन मिल पाता करे किया बनोर की भवानी और की तन जो फिर मारी की छोड़ी ऐसी आवे और फिर ऐसी मारी की छोड़ी हाथ जोड़ दे बोल के क्यों भवानी आज मैं तो खुश क्यों राम वाह मारा नमस्ती की माला खान को माला लावे थी वहाँ नमक की माला खान पुण्य के तो कहने लगा मारी की चोरी भवानी सुखे थे और कहने लगा भवानी

छोरी को बोले तो भवानी वाने तो फेरी जे राम माला ये पुला की आज आज करे थारी माला जब फेरूंगी वहां कोई तो सिवाया damals રોજ સુરત માની શકે છે એટલે કાળકા માયજી માં બગડાવતાના જગમ સુમાળા છે बात हो ये अपनी बात होताई और वह काल का कंकाली देवी थी वह देख बोली के देख रहा आज से तुमने हमारे बाराबत की सेवा करी तो वह थारी आकार पे चली गई और अब वहां ने तो फूला की माला फेंक दी थी में और मैं वहां का माता काट के और रुंड माला मारी गला में ગળામાં ઘેરી सरदार मारे पकवान ईरान में साहिब की भगवान की दरगाह में जाई थी और वहां से जाकर भगवान को आज्ञा लेकर मैं ओतार धारण करूंगी ओतार धारण करके और फिर वहां खड़बा गवा के मैं गोट में जाऊंगा तो भवानी जावा लागी और यह माड़ी की बड़ी पगा कर दीजिए भाई साहब तुम्हारी तो बारह वर्ष की सेवा मैंने खरीदी नहीं मैंने भी तो कहीं कहीं बरदान दे जा तो તો કાળકામાં હિસાબ ભેદ બોલી કે દેખ મારે ઈશ્વર को कहीं जावे कहीं वरदान तो हाथ जोड़ मारे ईश्वर यही बोली कीजिए भवानी मैं तो ये वरदान था हूँ आपसे कि जब मैंने बारह वर्ष की आपकी सेवा करी तो फिर भी मैं थारी शरण में रे बोल जाऊँ तो ग्रहण में तो भगवान के घर में चार उतार लू तो मैंने भी ला रहे देता तो हमारी थोड़ी या जगदम्बा भवानी ला लाड़ जार भगवान का त्रिखाना खाना में जाके और माथे श्री ने अर्ज लगाई थी भगवान मने अवतार दियो और मैं तो इस बेटा बगड़ा में जरूर दिख रहा जाओ भगवान का सिंहासन भी कहाँ देवी तो इस बगरावता में छड़वा जाओगी कहा जरूर जीवन हमारी माला फेर ली मैं वहां की तुलसी भय का माथा का ढूंढ माला फेरू जबदार ने पाजी जो मुकाम तो पे जाओ भगवान देवी बोले देवा कहा उतार ले वो जाओ किसी ना कमाना तो जरूरी होता है भगवान चार बुझा का नाथ देख बोला के जाओ माते श्री तू जहाँ भी जन्म धारेगी वही खरो जन्म धार तो श्रीनाथा भगवान ने क्या दे दी तो या माता की काला कंकाली या था हाँ गढ़ गागरा जाके और राजा उठ के उतार ले बाजी तो वहां या बांधी की माड़ी माड़ी की सोई तो यह तो गिरा स्टोरी बना ली है और वहाँ गढ़गादरा जाके और एक कुमार जो गार खोजबा के वास्ते आयो तो वहाँ जो खाना में जटाई मिल गई खाना में मिलता ही कुमार जो घबरा बुला गई क्योंकि तो शक्तिमान पैदा हुई थी कुमार जो ने पूछो जो उनके घर में देखी तो कहीं देखा कुमार के घर में दो तो ही बच्चा में जाने में तो कहीं देखा

रहाम जो रहाम राधा हेतिया राज मो राधा मुर दी रहाम मारे राधारे मुर आज मरणा कोळंग तरदारिणी तो कमार जो घबरा वाला है किसी नाथ आपने भी भाई साहब ने तो गढ़ दादरा को राजा है ये वरना तो राजा उड़ है जी ताई अपने योगी ने खुशी जी के ताई समला गया सोलहवीं सरदार के चारों तार धारणी निकल तो कुमार ने ले गया और राजा के सामने ये नाथ अच्छा कार छोड़ना मैंने दो लड़का जो खाना मुझे दीजिए तो या एक बागी वह तो गंगा सुधर में दे दीजिए और भाई साहब है तो वह जो राजा सोहनी खान तो दो ही जो साथ में श्री नाता वह बागी है जी को नाम तो हीरा थोड़ी पड़ी और रानी को नाम है जो पद्मावती पड़ी तो श्री नाता दो नाम से कायम होगा गवा से लागी रानी जी को નામ तो ब्राह्मणा जोशा ने रानी पदहावती नाम और खां की एक नाव थी ना था रानी जी तो दो ही नाव थी जो रानी वाकब हो तो नाता प्रेम से वह बागी तो गंगा खोटारी के रंग समड़ा दीजिए और रानी भाई साहब है जो रात बदे दन टोंगनी दन बदे रात टोंगनी दो तो ही दो तो दी उतार धारण होया यहाँ का तो ये तो रात टोंगनी टोंगनी कर राजा सोलहवीं सरदार पेश बोला कि देखो आपके भाई साहब बारह वर्ष की होगी और ब्याह के लायक होगी तो भी ने कहा कहा अच्छो बढ़िया सो ठकारो देखो जो भाई साहब का मंगल प्यार कर रहा अपने भाई साहब ने पाना तो देश देश में कागज दे दे के और ब्राह्मण भेज भेज के और भाई साहब को अच्छो पर देखे पर कोई भी भाई साहब के पर प्रश्न नहीं आवे तो कहीं देखा एक दिन भाई साहब उड़ा सुई बर मांगे क्योंकि तो तो वहां की रहने तो कहीं ने कहा या पर मांगे थे और कहीं पिताजी से देख पढ़णी हेजो गोठ खे महा मारे नार दाजो कुझु भाया

राम तो यसां पढ़ूं ये बोले जे राजा राम सोरंगी माम ਮਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਖਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ राजा थे पिताजी देश देश में था मैं ब्राह्मण जो हैरान कर दिया एक बाप का चोइस भाई होगा वह मैं मैं जरूर भी पढ़ूंगा ब्राह्मण और राजा देवी बोला कि देखो भाई साहब एक बाप का चोइस कहाँ जावा यार बाप के तो सात मलेर के आठ मलेर के नौ मले के दो मलेर को एक मले ब्राह्मणा के भी पर ढूंढ पगा में फानी आज ये मला होटा थाली फेफड़ी मुंडा मार गया ब्राह्मणा के झाग के भाई साहब माने तो कहाँ भी एक बाप का चोइस नहीं तो या ब्राह्मणा की कड़ी सुनता रानी जेम की देख बोली कि हे ब्राह्मणों रंगीली गोठ में चले जाओ वहाँ ये एक बाप का चोरी बेटा बढ़ाव थे राजा भाग जी का थे अरे मैं वहाँ नहीं पढ़ू बढ़ाई बढ़ा दादा तेज जी वहाँ को छोटा महाराव थे महाराव से छोटा भोर भोज भोज जी को छोटा हेम राव और सब भाई के छोटा ही छोटा में वो सरदार परम को सरदार थे हर चीज के द्वारा उबा थे घोड़ा का स्वार थे मैं ऐसी कोई बात नहीं कभी कोई नहीं और फिर गोट में चले जाओ और वहाँ तार मारो टी को लगन नारे लख लो और वहाँ जहर ही पूछता कर दी ये एक बाप का तो इस पणु में तो कभी भी नहीं बना तो ब्राह्मणा ने ये भी लगन लखे और गांठ बांध अंगोछा का पल्ला के थके और जाबा के वास्ते ला गया तो ब्राह्मण हेरता हेरता हेरता ब्राह्मण हेरता हेरता दन बीत गया ब्राह्मणा ने गोठ को कहीं भी पसंद तो ना या अपनी सुरता एक दिन का सिंगा जोग में राण सुजो कोट की गेरिया ने पकड़ ली तो दन उठा प्रभात की देव थी तो इसी भय की गुजरिया ठाणी भरवा के वास्ते आ रही थी और वहीं जो ब्राह्मण जोशी को कड़वयो थोड़ी सी प्यास लागी तो ब्राह्मण सोची यार ठाणी पीला बैठ गए तो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ और ब्राह्मण आराम करवा लागो और वह जो तुलसी भय की गुजरिया जो ठाणी भर रही थी तो कहे लगा गुजरिया जो ब्राह्मण पूजा कर काई कटाई पत्तो लाल बोले नेवा जी की नहार मर बोली के नेवा जी की नहार ये खा खोते रहे

કાદાન સસઈ નિવાદી તો મારે આ દે મહારાજ દરકે એ મારે તો લારે તાલો રે બામણ દોહી પોથે તો આ દે મહારાજ ગોતી સાલ જાય ઓ જો પણ્યારયા કી ધાર બામણ ઓ જો રે પણ્યારયા કી યાર

बोले थे भंवर बोल जोशी थे बोलो भंवर रो